और जिस दिन कयामत कायम होगी मुजरिम कस्में खाएंगे कि वो एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे इसी तरह वो बहकाए जाते थे